निवृत्त तर्कान व्याकृत यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धो श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम स्वरूप मात्र में अवस्थित अर्थ तत्स्वरूपाकार मात्र क्या है वो अवस्थित जटे सात निर्वित का समापत्ति तत्परम प्रत्यक्षम शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धो संकेत है शक्ति को संकेत कहते शब्द अर्थ में पर संबंध है शक्ति शब्द अर्थ ज्ञान में परस्पर एकत्व अभ्यास होकर के संकेत स्मृति की परिशुद्धि परिशुद्धि का अर्थ अपने नष्ट हो जाना शब्द संकेत की स्मृति नहीं हो शब्द संकेत की स्मृति नहीं होने से श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प संज्ञायाम शब्दजन्य ज्ञान होने के लिए शक्ति ज्ञान चाहिए अनुमान का तो कहेंगे अनुमेय अनुमेय का ज्ञान अनुमेय ज्ञान होने के लिए अर्थ के साथ शब्द का लिंग का साध्य के साथ संबंध जाती इसका स्मरण होने पर होता है श्रुत अनुमान ज्ञान ही विकल्प है श्रुत अनुमान से तो ज्ञान ही विकल्प ऐसे विकल्प रहित तो हो जाए समाधि प्रज्ञा में श्रुत अनुमान शब्द बिना अनुमान ज्ञान नहीं रहे ये समाधि प्रज्ञा में स्वरूप मात्र में अवस्थित अर्थ अर्थ स्वरूप तो अवस्थित है अर्थ के साथ शब्द का ज्ञान का जो अभ्यास संबंध होता है वो नहीं शब्द अर्थ ज्ञान का परस्पर अभ्यास होता है पहले आया था गौर इसकी शब्द है अर्थ गौ ज्ञान है मिलकर के विकल्प होता है किंतु भिन्न भिन्न है शब्द धर्म अलग है अर्थ धर्म अलग है ज्ञान का धर्म अलग है फिर ये परस्पर विकल्प होता है अभ्यास एकत्व तो अभ्यास होता है शब्द संकेत के स्मरण स्मृति का नाश हो जाने पर ये विकल्प शब्द के साथ अर्थ का ये सब तो विकल्प शून्य हो जाता है विकल्प रहित है प्रश्न समाधि प्रज्ञा तो समय केवल अर्थ ही अर्थ के साथ शब्द का ज्ञान का संबंध नहीं रहेगा स्वरूप मात्र में अवस्थित अर्थ तत्स्वरूप आकार मात्र से अवस्थित अर्थ स्वरूप आकार होकर के ही समाधि प्रज्ञा रहती स्थिर हो जाती है सात निर्वितर का समापत्ति विकल्प रहित शब्द ज्ञान विकल्प रहित केवल अर्थ मात्र रहती समाधि प्रज्ञान वो हो गया निर्वितर का समापत्ति इसको कहा गया परम प्रत्यक्षम पहले सभी का समापत्ति में कहा था अपरम प्रत्यक्षम ये कहा परम प्रत्यक्षम अपर प्रत्यक्ष कहाँ है पवित्र का समाप्ति में अंत में आया था अपरम प्रत्यक्ष में कहा ये परम प्रत्यक्ष है ठीक है नहीं शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धि में परिशुद्धि का तो अपने शब्द संकेत स्मरण पूर्वी खलु आगमान माने प्रवर्ते थे शब्द संकेत स्मृति पूर्वक आगम और अनुमान ज्ञान प्रमाण प्रवृत्त होते हैं आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण संकेत क्या है संकेत अयम गौरीति शब्दार्थ ज्ञानानाम इतरेतर आत्मा ये संकेत गौ ये शब्द है गौ एक शब्द है गौ ये अर्थ है गौरीति ज्ञान शब्द अर्थ ज्ञान अलग अलग है किंतु गौ इति कहन से तीनों का ग्रहण होता है गौरीति शब्द गौ ये अर्थ गौरीति अर्थ होती है की ज्ञानम जातम इतर अन्य परस्पर एकत्व अभ्यास स्वरूप है संकेत ततश्च आगमान अनुमान ज्ञान विकल्प होता आगमन ज्ञान अनुमान ज्ञान ही विकल्प ये विकल्प होते हैं आगमन जन्य ज्ञान अनुमान जन्य ज्ञान तेन तत्पूर्वा समाधि प्रज्ञा सवितर का तत्पूर्वा है संकेत पूर्वक समाधि में ज्ञान सवितर तर्क है पूर्व में कहा गया कही गई समापति यदा पुनर्थमात्र प्रवणन चेतसा अर्थमात्राधृतेन तद अभ्यासा नान्तरिक सामुपगता संकट स्मृति त्यक्ता तत्याग चुतान मान ज्ञान विकल्प तनुरोचक यदा पुनः अर्थमात्र प्रवणन चेतता अर्थमात्र प्रवण चेत अर्थमात्र को प्रवण ढालू उसके ऊपर जाना अर्थमात्र में रहना अर्थमात्र प्रवणम प्रवण है अर्थमात्र प्रवण अर्थमात्र को चित्त जाना चित्त उसमें रह जाना जैसे जल नीचे को चले जाता है इसे पूर्व प्रवण प्राचीन प्रवण कहा था पूर्व दिशा ढालू अर्थमात्र है नीचे चेत चित्त वहाँ चल जाता है अर्थमात्र में स्थिर होता है अर्थमात्रादृतम अर्थमात्रेण आदृतम अर्थमात्र अर्थमात्र आदृत अर्थमात्र को ग्रहण किया अर्थमात्र आदृत चेतक अर्थमात्र केवल अर्थ से आदृत चेत हुआ केवल अर्थ विषय का चित्त है अर्थ ही चित्त का विषय और कुछ नहीं शब्द ज्ञान विकल्प रहित अर्थमात्रेण आदृत चेतक अर्थमात्र से आदृत स्वीकार किया गया अर्थमात्र युक्त चेत तद अभ्यास नांतरिकता मूर्खता ऐसे अभ्यास करने पर ध्येय अर्थ का ही चिंतन करते करते नान्तर्य अवश्य भावी नान्तर्य है उसी में अर्थ में ही अर्थ को छोड़कर कहें नहीं स्थिर हो गई इसे प्राप्त तब अर्थमात्र चित्त में स्थिर होने से संकेत स्मृति है शब्द के साथ ज्ञान के साथ जो परस्पर अध्यास ये संकेत स्मरण नष्ट हो गया केवल अर्थमात्र ही रहा संकेत स्मृति त्याग होने पर तत्याग तत्या संकेत स्मृत्या त्याग संकेत स्मरण त्याग होने पर शब्द श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प तमु त्यक्तो श्रुत शब्द ज्ञान ये विकल्प अनुमान ज्ञान विकल्प ये सब त्यक्त हो जाते हैं अनुमान परार्थ अनुमान में शब्द सुनकर ज्ञान होता है और सार्थ अनुमान में व्याप्ति आदि ज्ञान चाहिए शब्द के साथ अर्थ का ज्ञान का संबंध नहीं हो केवल अर्थ का ही संबंध हो तो अन्य कुछ संबंध नहीं संबंध ज्ञात नहीं त्याग तो हो गया तो तब मूलक संकेत मूलक संकेत स्मृति मूलक संकेत स्मरण पूर्वक शब्दानुमान ज्ञान विकल्प हो गया विकल्प त्यक्त हो गया विकल्प रहित हो गया समाधि प्रज्ञा विधि अन्य विकल्प रहित केवल अर्थ विषय ज्ञान हुआ तदा तत्शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम शब्द अनुमान ज्ञान विकल्प रहित समाधि प्रज्ञा होगी स्वरूप मात्र में अवस्थित अर्थ अर्थ स्वरूप मात्र में अवस्थित हुआ तब स्वरूप मात्र कया चित्त तो स्वरूप मात्र हो गया न तो विकल्पित आकार में परिचित है तो समाचित विकल्पित आकार में परिचिन नहीं रह, नहीं रहता स्वरूप अर्थ मात्र रूप ही रहता है उसी को समाज प्रज्ञा को स्थान निर्वितर्क का समापति वितर्क विकल्प रहित समापति ये जो निर्वितर का समापत्ति है समाधि प्रज्ञा है समाधि में ज्ञान बुद्धि विकल्प रहित शब्द ज्ञान विकल्प रहित अर्थाकार हो जाती है ज्ञान तद तद योगी नाम परम प्रत्यक्ष योगियों का पर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में परम प्रत्यक्ष क्यों दिया असद आरोप गंध क्या प्रभाव आरोप का गंध भी नहीं रहा स्वल्प आरोप नहीं रहा केवल अर्थ मात्र रहा असद वस्तु अभिद्यमान वस्तु का आरोप होने पर ही प्रत्यक्ष परम नहीं अपर प्रत्यक्ष हो जाता है यहाँ आरोप का स्वल्प ले समाप्त भी नहीं रहने से परम निरपेक्ष प्रत्यक्ष हुआ परम प्रत्यक्ष इसके वो शंका करते हैं परेण प्रत्यक्ष न अर्थतत्व गृहीत योगि उपादयंती उपदिशंती च जो पर प्रत्यक्ष हुआ जिसके द्वारा अर्थ तत्व का ग्रहण ज्ञान होता है अर्थ तत्व का ग्रहण प्रत्यक्ष होता है अर्थ का ग्रहण होने के बाद ग्रहण करके अर्थ को जान करके योगी लोग उसे अर्थ का उपादन प्रतिपादन करते हैं और उपदेश भी करते हैं कथम व अतद विषयाध्यान आगम प्राप्त अनुमानाध्यान स्वर्थ उपदिश्य जब अर्थ तत्व का आगम अर्थ तत्व विषय नहीं है अनुमान भी नहीं है अर्थ को विषय नहीं करने वाले जो आगम और अनुमान उसके तरह उपदेश के करते हैं ये भी लोग यदि वो पर का विषय आगम का भी विषय नहीं है अनुमान का विषय नहीं असद विषय ध्यान तत् तो विषय तद विषय यो आगमन मान हो ते आगमन माने तद विषय तद विषय न तथित अतत अर्थ तत्व विषय नहीं अर्थ तत्व अतत अतत्व विषय ययु हो विषय ययु आगमानुमान हो आगमान अनुमान हो ते आगमानुमाने असद विषय के असद विषयाभ्याम आगम अभ्याम जो आगम शब्द है पर प्रत्यक्ष का विषय अर्थ तत्व को विषय नहीं करते हैं अनुमान भी शब्द के द्वारा अर्थ को बोधन कराते हैं जो प्रत्यक्ष परम प्रत्यक्ष का विषय है अर्थ तत्व उसको विषय नहीं करते हैं क्योंकि पर प्रत्यक्ष का विषय अर्थ तत्व शब्द संकेत शब्द और ज्ञान इसमें दोनों के संबंध इतर इतर अभ्यास संबंधों को छोड़ करके केवल अर्थ का ज्ञान है संबंध रहित अर्थ ज्ञान है जबकि आगम और परार्थ अनुमान में शब्द के साथ अर्थ का संबंध ज्ञान होगा तो तो ये सब उपदेश कैसे कहते यदि अर्थ तत्व शब्द ज्ञान संबंध रहित तो, अभ्यास रहित तो, वितर्क रहित तो है अर्थ तो उसका उपदेश शब्द के द्वारा कैसे करेंगे अनुमान के द्वारा कैसे दूसरे उपदेश करेंगे अनुमान के द्वारा अर्थ निश्चय तो होता है दूसरे को जो उपदेश करते पर्वत वन्यमान अंधुमान इसको कहते परार्थ अनुमान दूसरे को उपदेश करने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं और अनुमान वाक्य भी प्रयोग करते हैं योगी तो जो अर्थ तत्व आगम का विषय नहीं अनुमान का भी विषय नहीं क्योंकि संकेत नहीं रहा शब्द संकेत स्मरण नहीं रहा तो फिर उसका उपदेश आगम के द्वारा अनुमान के द्वारा कैसे करते हैं उपाद्य से प्रतिपादन करते तस्मत आगम अनुमान तद से आगम अनुमान अर्थ तत्व विषय होना चाहिए बहुग्री तद विषय तत् विषय जय हो आगमानुमान नयो ते आगमानुमान तद विषय तत्व से अर्थ तत्व अर्थ तत्व विषय को दोनों होना चाहिए नहीं तो दोनों का दोनों के द्वारा कैसे उपदेश करेंगे ये शंका होने पर ते इसका उत्तर देते हैं तेज विकल्प परम प्रत्यक्ष विकल्प है पूर्व जी कहता शंका करने वाला एक विकल्प है आगम अनुमान का विषय अर्थ तत्व हुआ आगम अनुमान तो विकल्प है इसलिए परम भी प्रत्यक्ष विकल्प है पर प्रत्यक्ष योगी का होने पर भी अर्थ तत्व विषय का उससे जो तो विकल्प ही रहेगा इतना आह तत्व इसके उसके उत्तर देते सर्वसाकार मात्रता अभाष से सात निर्वितर का समाधि तत्परम प्रत्यक्ष आगे तत्व श्रुतानुमान बीजम जो परम प्रत्यक्ष हुआ श्रुत अनुमान का बीज कारण हुआ जैसे बीज से अंकुरादि कार्य उत्पन्न होता है ऐसे अर्थ तत्व का जो परम प्रत्यक्ष हुआ निर्वितर का समाधि उससे श्रुत से अनुमान से अनुमान प्रभुवत दोनों उत्पन्न होते हैं उसके बाद शब्द अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति होती है न तो अनुमान ज्ञान सहभूतम प्रदर्शन तदर्शन किंतु अर्थतत्व का जो दर्शन है अर्थतत्व का अपरोक्ष परम प्रत्यक्ष निर्वितर का समाधि प्रज्ञान यह अनुमान ज्ञान के साथ नहीं अनुमान ज्ञान उसके बाद होते हैं पहले परम प्रत्यक्ष अर्थ का ज्ञान योगी को होता है उसके बाद शब्द के द्वारा परार्थ अनुमान के द्वारा उसका प्रतिपादन करता है सुस्त अनुमान ज्ञान तो उसका कार्य हुआ एक साथ नहीं परम प्रत्यक्ष के समय श्रुतानुमान ज्ञान नहीं रहता उसके साथ नहीं है तस्माद असंकीर्णम प्रमाणांतरण नो निर्विकल्प निर्वितर्क समाधिजम दर्शन इसलिए प्रमाणांतरण असंकीर्ण मिश्रित नहीं संकीर्ण होता है मिश्रित मिश्र असंकीर्ण अमिश्र अन्य प्रमाण से मिश्रण रहित योग्य का जो योग्य का परम प्रत्यक्षम जो कि निर्वितर्क समाधि में होता है समाधि जन्य दर्शन इति निर्वितर्काया समापत्तिर अस्या सूत्रेण लक्षण दृश्यते निर्वितर्काया समाप अस्या निर्वितर्काया समापते लक्षणम सूत्र में दृश्य यह जो निर्वितर्क समापति कही गई विकल्प रहित उसी का लक्षण सूत्रण कहते हैं तो निर्वितर्काया समापत्ति रस्या लक्षणम सूत्रण अस्या निर्वितर्काया लक्षण लक्षणम सूत्रण दृश्य सूत्र के द्वारा सूचित करते हैं सूत्रकार टीका में यदि अवितर्कमेव श्रुतानुमान सहभूतम तद अनुसत्व त्याग भवित संकीर्ण जैसे सवितर्क समापत्ति में श्रुत अनुमान के साथ ही अर्थ ज्ञान है शब्द ज्ञान अर्थ ये सब परस्पर अभ्यास होकर के ज्ञान होता है गौरी शब्द अर्थ और ज्ञान अनुमान साथ होता है सवितर्क समाधि में सवितर्कमिव सवितर्क के समान ही श्रुतवानुमान साहभूत तद अनुसम होता अर्थ तत्व का ज्ञान तो संकीर्ण हो जाता शब्द अनुमान से संकीर्ण हो जाता तयुक्त बीजमेव एक एक परम प्रत्यक्षम तयोस्त बीजम तय श्रुतानुमान बीजम कारण अर्थ तत्व का परम प्रत्यक्ष योग्य को होता है उसके बाद सुस्त शब्द अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति होती है तब तो शब्द से योगी अन्य को उपदेश करते हैं तत्व ही श्रुतानुमान प्रभवत ततः अपर प्रत्यक्ष समाधि प्रज्ञा निर्वितर्क समाधि के पश्चात जो अर्थ तत्व का परम प्रत्यक्ष हुआ उससे श्रुतानुमाने श्रुतम च अनुमान च श्रुतानुमाने प्रभवत उत्पन्न होते हैं कारण है अर्थ तत्व का परम प्रत्यक्ष न तो यद यथ कारण तत्व विषय भवती यद यथ कारण पर प्रत्यक्षम स्वतनुमान का कारण है तत्परम प्रत्यक्षम तद विषय स्वतनुमान का विषय स्वतनुमान विषय विषय का नहीं हुआ स्वतनुमान का जो विषय स्वतनुमान विषय विषय कम प्रत्यक्ष न तत्प्रत्यक्षम स्वतनुमान विषय को विषय नहीं करेगा स्वतन विषय न तद विषय में तत् प्रत्यक्षम परम प्रत्यक्षम तद विषय श्रुतवनुमान विषय को विषय करने वाला इसमें श्रुतानुमान विषय श्रुतानुमान विषय विषय विषय व्यक्ति ऐसा करके श्रुतानुमान विषय विषय अर्थात श्रुतानुमान को विषय नहीं करेगा परम परम प्रत्यक्षम यथ कारण परम प्रत्यक्षम यस्य कारण सूत्र से अनुमान से कारण तत् परम प्रत्यक्ष में सुत अनुमान का विषय नहीं होगा इसे परम प्रत्यक्ष में सुत अनुमान ज्ञान संकीर्ण नहीं है नहीं धूम ज्ञान वन्य ज्ञान कारण थी वन्य विषय वन्य ज्ञान का कारण धूम है या नहीं धूम है वन्य ज्ञान का कारण धूम है धूम है धूम का ज्ञान आपको नहीं वन्य ज्ञान हो जाएगा तो वन्य ज्ञान का कारण क्या हुआ धूम ज्ञान वन्य ज्ञान का कारण धूम ज्ञान धूम ज्ञान वन्य ज्ञान कारण पर्वत वन्यमान धूमात कहते हैं हेतु क्या है धूम हेतु हुआ धूम कैसे हेतु हुआ कारण कैसे हुआ धूम हेतु कैसे हुआ वन्य ज्ञान का कारण है धूम वन्य ज्ञान का कारण है धूम धूम एक ज्ञानमान लिंगम अनियमितीकरण प्राचीन मत के अंतर धूम को कारण कहते हैं और धूम है वन्य का कारण पर्वत वन्यमान धूमा वन्य पर्वत में है क्योंकि धूम है धूम बनने का कारण है या नहीं धूम बनने का हेतु है हेतु है कारण नहीं धूम बनने का हेतु है कारण है दोनों है धूम कारण नहीं है धूम ज्ञान कारण है वन्ही का हेतु जो धूम कहते हैं वन्नी का हेतु नहीं वन्नी ज्ञान का हेतु है वन्य ज्ञान का है तो धूम प्राचीन मत के अंतर ज्ञायमान लिंगम अनुमित करना ज्ञायमान होकर के धूम वन्य ज्ञान का जनक और नब्बे लोगों से ज्ञायमान होकर के धूम को वन्य का वन्य ज्ञान का जनक कहेंगे अतीत धूम से वन्य की अनुमित नहीं होगी इसलिए धूम ज्ञानम अनुमित का करना धूम ज्ञानम किसका कारण होगा वन्य ज्ञान का वन्य ज्ञान धूम ज्ञान हो जाएगा तो वन्य उत्पन्न हो जाएगा क्या धूम ज्ञान किसका कारण हुआ वन्य ज्ञान का तो धूम किसका हेतु हुआ हाँ वन्य ज्ञान का कर सकते अर्थात धूम ज्ञान वन्य ज्ञान का ये देखा है वन्य धूम ज्ञान वन्य ज्ञान का कारण धूम ज्ञान वन्य ज्ञान कारण तो धूम ज्ञान वन्य विषय है नहीं धूम ज्ञानम वन्य विषय कम होते न धूम ज्ञान का विषय वन्य है नहीं तुम ज्ञान का विषय बनी है या नहीं बनी हाँ धूम ज्ञान का विषय क्या होगा बनी बनी ज्ञान धूम ज्ञान का विषय बनी ज्ञान धूम ज्ञान का विषय धूम है घट ज्ञान का विषय धूम ज्ञान का विषय धूम होगा बनी नहीं है बनी ज्ञान भी नहीं नहीं धूम ज्ञान बनी ज्ञान कारण भी वन्य विषय नहीं वन्य विषय किम नहीं वन्य विषय धूम ज्ञान धूम ज्ञानम वन्य विषय नहीं भवती धूम ज्ञान वन्य विषय के है नहीं नहीं वन्य ज्ञान का कारण है धूम ज्ञान किन्तु वन्य विषय का नहीं इसी प्रकार अर्थ तत्व परम प्रत्यक्षम अनुमान शब्द का कारण हुआ अनुमान शब्द विषय का नहीं है तस्माद अविकल्प न न गृहित विकल्प उपदिशंति च उपादयती च योगी लोग अर्थतत्व का प्रत्यक्ष परम प्रत्यक्ष कर रहता है योगियों को अविकल्प न न निर्वितर्क समाप्ति अविकल्प प्रत्यक्ष विकल्प रहित परम प्रत्यक्ष से अर्थ को ग्रहण करके निश्चय करके आगे उपदेश जो करते हैं विकल्प उपदिशंति विकल्प शब्द के साथ अर्थ का संबंध ज्ञान के साथ अर्थ का संबंध विकल्प करके संबंध है नहीं आरोप करके उपदेश करते हैं उपवादन भी प्रतिपादन भी करते हैं उपसंहार उपसंहार करते तस्मात असंकीर्णम प्रमाणांतरण योग्य निर्वितर्क जम दर्शन निर्वितर्क समाधिजन्य जो ज्ञान पर प्रत्यक्ष योगियों का वह ज्ञान प्रमाणांतरण असंकीर्णम अन्य प्रमाण से निश्चित नहीं है इसे निर्वितर्क समापत्ति का लक्षण सूत्र के द्वारा कहते हैं टीका में व्याख्यम सूत्रम योजयती व्याख्यम सूत्रम सूत्र की व्याख्या करेंगे व्याख्यय कौन होगा सूत्र सूत्र की व्याख्या से व्याख्यम किम सूत्र स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य निर्भाता निर्वितर्का स्मृति पर सिद्ध शब्द संकेत स्मृति की परिशुद्धि होने पर अपनय होने पर स्मृति समाप्त हो जाने पर स्वरूप शून्य इव स्वरूप शून्य जैसे स्मृति नहीं होने से शब्द अनुमान कुछ नहीं विकल्प नहीं रहा तो केवल अर्थ समाप्त निर्भाषा अर्थमात्र निर्भाष अर्थमात्र से निर्भाष यश्याम समापत्तो का समापत्ति अर्थमात्र निर्भाष अर्थमात्र को प्रकाश करने वाली निर्वितर का समापत्ति व्याख्यम सूत्रम सूत्र की व्याख्या करेंगे उसके व्याख्या है निर्वितर का निर्वितर का यह पर समापत्ति अत्या सूत्र लक्षण स्मृति परिशुद्धो इत्यादि सूत्रम स्मृति परिशुद्ध हो सर्प शून्य अर्थमात्र निर्वाता निर्वितर का ही सूत्र हुआ शब्द संकेत श्रुतम च अनुमान अच्छा भाष्य में या शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्ध हो ग्राह्य स्वरूप परता प्रज्ञा स्वमिव प्रज्ञा रूप ग्रहणात्मक त्यक्वा पदार्थमात्र स्वरूप ग्राह्य स्वरूपापन्नमेव भवती निर्वितर्क समापत्ति या शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्ध शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प यानी कि स्मरण अपने होने पर इसकी व्याख्या करते टीका शब्द संकेत श्रुतम च अनुमान तेषा ज्ञान में विकल्प शब्द संकेत शब्द अर्थ ज्ञान का परस्पर इतर अभ्यास होता है संबंध श्रुतम शब्द अनुमान इनका ज्ञान अनुमान कहते हैं अनुमेय उनका ज्ञान ही विकल्प है ये विकल्प समाप्त हो जाने पर विकल्प की स्मृति समाप्त होने पर तस्मा स्मृति विकल्प होने पर ज्ञान होने पर जो स्मृति होती है पहले शब्द संकेत से शब्द से अनुमान ज्ञान से ज्ञान होगा ज्ञान ही विकल्प विकल्प ज्ञान होने के बाद स्मरण होता है संस्कार होकर के तस्या परिशुद्धि का अपगम स्मृति नहीं है शब्द अर्थ ज्ञान तो तब उसी समय परिशुद्ध ग्राह्य स्वरूप प्रवक्ता ग्राह्य स्वरूप को ही विषय करने वाली प्रज्ञा है तस्या अत्यंत संकेत स्मृति परिशुद्धि हेतु श्रुता विज्ञान स्मृति परिशुद्धि से हेतु मती शब्द संकेत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्ध ये पूरा एक पद है इसमें हेतु भी है हेतुमति भी है हेतु हेतुमती हेतुमति अर्थ कार्य हेतु अस्य अस्य हेतुमति स्त्रीलिंग है परिशुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है हेतु क्या अत्र संकेत स्मृति परिशुद्धि हेतु शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धि संकेत स्मृति परिशुद्धि होने पर संकेत स्मरण नष्ट हो जाने पर श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प नहीं होता है संकेत की स्मृति हो तो श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प होंगे संकेत के स्मरण नहीं होने पर शब्द अनुमान ज्ञान विकल्प नहीं होते तो स्मृति परिशुद्धि हो गया हेतु अब तो संकेत स्मृति परिशुद्धि हेतु होगा और हेतु मत हो गया श्रुतादि ज्ञान स्मृति परिशुद्धि श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धि पहले शब्द संकेत स्मृति का अपगम होने से श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति का भी अपगम होता है दोनों मिला करके शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति पर शुद्धि शब्द अनुमान ज्ञान विकल्प स्मरण का अपगम होने का कारण है शब्द संकेत स्मृति का अपगम शब्द संकेत स्मरण नहीं होने से शब्द अनुमान ज्ञान विकल्प के किसे होने वाले स्मरण भी नहीं होते हैं जब शब्द अनुमान ज्ञान विकल्प से होने वाले स्मरण नहीं होगे तो उसमें प्रज्ञा ग्राह्य स्वरूप ऊपर होता ग्राह्य स्वरूप उपरता हो जाती है अनुमान शब्द से कर्म साधन अनुमेय वाचक श्रुता अनुमान ज्ञान शब्दजन्य ज्ञान और अनुमान ज्ञान अनुमान ज्ञान में अनुमीयते अनुमान कर्मण युक्त करना अनुमित अनुमान भावे में ड्यूट करेंगे तो अनुमान अनुमिति के लिए प्रयोग होता है और अनुमियत अनियमित अनुमानम कर्ण में ड्यूट करेंगे तो कर्ण हो जाएगा यहाँ अनुमेय के लिए अनुमान शब्द प्रयोग कर दिया ल्यूट क्रिस्टलिट बहुलम कर्मण ल्यूट करेंगे तो अनुमान का क्या अर्थ होगा कर्मण ल्यूट करेंगे तो अनुमान का अर्थ अनुमेय अनुमियत अनुमान अनुमान अनुमान प्रमाण का अनुमान प्रमाण जन ज्ञान का विषय अनुमेय होगा अनुमीयते थे अनुमान यत अनुमीयते अनुमान प्रमाण निश्चयते तद अनुमेयम अनुमान का अर्थ क्या हुआ अनुमेय कब नहीं अन्य करें तो अनुमान प्रमाण हो गया अनुमेय अर्थ कब होगा अनुमान किस अर्थ में ड्यूट करने पर कर्मण कर्मण ड्यूट करेंगे तो अनुमान का क्या अर्थ होगा अन्नमेय और अन्नमेय कब अर्थ होगा किस अर्थ में लुट करने पर करण है कर्म में लुट करने से अनुमान का क्या अर्थ तो होगा अन्नमेय और अनुमान का अर्थ तो प्रमाण भी होगा कर्ण कर्ण में लुट करें अनमीय से अन्य नहीं अनुमानम तो अनुमान का होगा प्रमाण जाति ज्ञान आदि और अनियमित होगा क्या वो भाव लुट करें तो भाव लुट करें तो अनुमान का क्या अर्थ होगा अनिमिति कर्ण में लुट करें तो अनुमान का अर्थ प्रमाण कर्मणि लुट करें तो अनुमान का अर्थ अनुमेय ऐसे होता है यहाँ अत्र अनुमान तो अनुमेय अर्थ लेना क्योंकि कर्मणि लुटे दे जाए टीका में कर्म साधन कर्म साधन कर्मणि लुट करेंगे तो अनुमेयवाचक स्वम एवं भाष्य में दिया है ग्राह्य स्वरूप उपरता प्रज्ञा स्वमेव प्रज्ञा रूपम ग्रहणात्मक त्यक्ता अपने समान प्रज्ञा रूप ग्रहण ज्ञानात्मक स्वरूप को तो छोड़ करके ज्ञान तो है अभी अर्थमात्र हो गया हो गया ज्ञान शब्द भी नहीं रहा ज्ञान भी नहीं रहा स्वम इव प्रज्ञा अपने स्वरूप को जैसे प्रज्ञा रूप स्वरूप ग्रहण उसको छोड़ करके स्वयं इव इति इवकार भिन्न क्रम यानी जो स्वयं इव प्रज्ञा रूपम ग्रहणात्मक त्यक्ता दिया है इव का अन्वय यहाँ नहीं कहना स्वम प्रज्ञा रूपम ग्रहणात्मक त्यक्ता इव इव का वहां जोड़ना इव शब्द कार भिन्न क्रम इव जो शब्द है भिन्न क्रमो ये सभिन्न क्रम उसका क्रम भिन्न है त्यक्ता इत पदानंतरम दर्शन त्यक्ता के आगे इव को जोड़ना स्वम इव प्रज्ञा रूपम ग्रहणात्मक त्यक्ता जो पाठ है स्वम प्रज्ञा रूपम ग्रहणात्मक त्यक्ता इव वहां भूख जोड़ना स्वम प्रज्ञा अपने स्वरूप को स्वम मतलब अपना स्वरूप कौन है प्रज्ञा रूप प्रज्ञा रूप क्या ग्रहणात्मक ग्रहण आत्मा यश्य ग्रहण ज्ञान ज्ञान स्वरूप अपने को छोड़ करके प्रज्ञा अपना जो स्वरूप ज्ञानात्मक स्वरूप उसको छोड़ करके ज्ञान प्रज्ञा है अपने स्वरूप के त्याग करेगा इसका त्यक्ता वो त्याग करके जैसे अर्थमात्रा आकर हो जाने से ज्ञान का भान नहीं होता है ज्ञान का स्वरूप का त्याग हो गया जैसे त्यक्ता वो इसलिए वो तो वहां जोड़ना पदार्थ मात्र स्वरूपा तू तो सम प्रज्ञा पदार्थ मात्र स्वरूप में बुद्धि का स्वरूप ध्येय हो गया का पदार्थ मात्र रूप ग्राह्य स्वरूपापन्ना इव भवती वस्तुतः ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप है किंतु ज्ञान अर्थ को विषय करते समय ज्ञान विषय नहीं होता है ज्ञान का स्वरूप छूट गया जैसे त्यक्त हो गई जैसे ऐसे ग्राह्य स्वरूप महापन्न इव होती ग्राह्य स्वरूप ही जैसे हो गई प्रज्ञा सा निरितर का समापत्ति तथा से व्याख्याता इसकी व्याख्या टीका नहीं इति पदा त्यक्ता इति पदानंतरम दर्शक विषय विप्रतिपत निदा उसे विषय में क्या है उसका फिर विषय विवाद होगा उसका निराकरण करते तस्या एक बुद्धि हो यह अर्थात्मा अनुप्रत्यय विशेषात्मा गवादिर घटादिर लोक एक बुद्धि उपक्रम तस्या उपक्रमते आरभते उपक्रम एक बुद्धि का एकाम बुद्धि उपक्रम के एक बुद्धि को आरंभ करती है आरभते उपक्रम के आरभते एक एक बुद्धि उपक्रम तस्या समापत्ति में एक बुद्धि उपक्रम ही अर्थात्मा अर्थात्मा अर्थ आत्मा से अर्थ स्वरूप एक बुद्धि एक गौर की बुद्धि आरंभ करते हैं एक बुद्धि उपक्रम हो गया एक बुद्धि गौर घट की बुद्धि अर्थात्मा है दृश्य स्वरूप अर्थात ना है अर्थ है दृश्य दृश्य स्वरूप हो गया एक बुद्धि उपक्रम करने वाला अर्थ स्वरूप अर्थ विषयक प्रज्ञा हुई प्रज्ञा अर्थ स्वरूप हो गई अर्थ स्वरूप बुद्धि एक गौरित बुद्धि उपक्रम से ऐसे बुद्धि का आरंभ करता है अर्थात्मा अर्थ से ही शब्द बुद्धि ज्ञान ऐसे आरंभ होता है पहले कहा श्रुत अनुमान का ये अर्थ तत्व होता है पर अपर ज्ञान बीज का इसलिए एक बुद्धि उपक्रम एक बुद्धि उपक्रम हो गया एक गौ एका गौ ऐसे बुद्धि को आरंभ करने से एक बुद्धि उपक्रम एक गौ कहानी का अभिप्राय यहाँ है एक अवैध नामक वस्तु को विषय करती है बुद्धि बौद्ध लोग मानते हैं अवैध नाम को कोई वस्तु नहीं है परमाणु का प्रत्यय ढेर है घट हम देखते हैं कहते घट परमाणु का पुंज बहुत परमाणु इकट्ठी हो गया इसको घट शब्द से कहते हैं जैसे बहुत धान्य एक साथ रखे देते हैं यदि घट नाम के एक वस्तु नहीं है तो परमाणु तो अनेक है एको घट महान इस शब्द के से प्रयोग होगा एकत्व तो घट में हो सकता है घटनाम तो अवैध यदि है नहीं परमाणु तो अनेक है तो अनेक परमाणु में तो एक घट ऐसा कैसे प्रयोग होता है उसके लिए उदाहरण देते जैसे धान्य अनाज सत्य एक साथ बहुत सत्या ढेर हो गया धान्य यवा आदि अनेक होने पर भी राशि ढेर समूह एक है इसी प्रकार परमाणु कुंज समूह हो गया एक उसको घट शब्द से कहते हैं समूह जो राशि है ढेर एक महान है लेकर के एक महान जैसे धान्य राशि है एक महान घट ऐसे प्रयोग करते हैं अभी उनका मत निराकरण करते हैं अर्थ तत्व निर्विकल्प समाज में अर्थ तत्व का अपरिचय होगा अर्थ से एक बुद्धि एक गौ एक घट ऐसे बुद्धि को आरंभ करता है अर्थात्मा अर्थ स्वरूप जो ग्राह्य स्वरूप दृश्य स्वरूप है दृष्ट स्वरूप को विज्ञानवादी कहेंगे ज्ञान मात्र बहुत लोग कहते ज्ञान चलो को अच्छे अर्थ नहीं किंतु एक तो अर्थ ज्ञान का आरंभ करने वाला ज्ञान मात्र नहीं अर्थ क्षणिक विज्ञानवादी कहते योगाचार मते तो संति मत तासाम विवर्त किल और ज्ञान है बुद्धि बुद्धि का ही विवर्त अर्थ है ज्ञान का तो अर्थ ही बुद्धि का आरंभ करता है अर्थ नहीं तो बुद्धि कैसे होगी अर्थ के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है इसलिए जो विज्ञानवादी कहते हैं विज्ञान मात्र ही अर्थ कुछ अलग है नहीं तो फिर दृश्य तो अनुपति दृश्य कैसे होगा ज्ञान का अतिरिक्त तो नहीं ज्ञान का विषय तो प्रत्यक्ष दृश्य होता है दृश्य अनुपत अर्थ मानना पड़ेगा एक हुई अर्थ ही बुद्धि एक बुद्धि का आरंभ करे इस अर्थ जो परम प्रत्यक्ष का विषय अर्थ तत्व हुआ वो अर्थ पहले सिद्ध होने पर उसमें एक गौ एक घट ऐसी बुद्धि होती है बुद्धि का आरंभ का अर्थ हुआ गवादी अनुप्रत्यय विशेषात्मा गवादि घटादि व दो अनुप्रत्यय का विशेष स्वरूप जो कहते अर्थ तत्व वो गवादि घटादि व लोक हो गया अर्थ अनुप्रत्यय का विशेष है अनुप्रत्यय का विशेष स्वरूप है गो वो घट खाली अनुप्रत्यय नहीं अर्थ तत्व एक है इसमें थोड़ा सा बौद्ध मत का निराकरण के लिए काम करते हैं मद पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण